समस्त मानसिक रोगों को दूर कर देती है अगर हृदय में भक्ति आ जाए तो फिर काम को घाट रह नहीं सकते राग के साथ रह नहीं सकते खत्म हो जाएंगे तो राम भगत मन उड़ से जाते दुख लवलोक में सपने उठाते तो फिर सपने में भी फिर उसको दुख होगा सपने में भी नहीं होगा कि उसकी सारी बात नहीं जितनी कुछ सिद्ध हमें समझ जाएंगे उसकी सप्तम गुण दूर हो जाएगा ये गुण उसका दूर हो जाएगा शुद्ध सप्तगुण की भ्रांता उसमें हो जाएगी ऐसा व्यक्ति तो अगर सपने में भी देखेगा तो भयंकर सपने नहीं दिखाएंगे उसमें भी समय सपने में भी दुख नहीं होगा जितने भी सपने में जो सपने दिखाई देगा वो सब सुखदायी अनुकूल परिस्थितियां उनसे उपलब्ध होंगी प्रतिकूल कुछ भी नहीं लगेगा सपने तो कभी दुख लग ले समय सपने उठा के कचरे सरोवर में कई जगह माही कहते इसलिए जो लोग में श्रोमण कौन है शत्रु तो बहुत लोग हैं लेकिन शत्रुओं में भी सबसे ज्यादा शत्रु कौन है श्रेष्ठ कौन है तो जो मन से जतन कराई तो वे लोग जो इस मन को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं वो तो विचार है और जो इस मन की लापरवाही करते हैं उसे प्राप्त नहीं करना चाहते हैं इसको बेकार समझते हैं वो लोग मूर्ख शत्रु कुछ इतनी लाभदायक मनी इतनी लाभदायक भक्ति और इस भक्ति को प्राप्त न करना चाहे तो उसको जो है तो उसके लिए आगे कहते हैं कि देखो अब ये भक्ति कैसे प्राप्त हो वो बताते हैं और कौन लोग इसको प्राप्त नहीं करते ये बताते हैं यहाँ पर ये कहते कि जो मन लाभ से जो लोग चतुर लोग हैं वो तो मन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और सो मणि जतन प्रगत जगह माही राम कथाद में नहीं तो राम कथाद में नहीं तो लाई यद्यप ये मन जो संसार में प्रगत है तो भी भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होती कहते भगवान की भक्ति कोई छिपी थोड़ा कहीं ऐसी बड़े कि भगवान की भक्ति बड़ी जैसे मन जो है कई भाई चिंता मन बहुत अच्छी आपने बताई कि बताओ चिंता मन कहाँ मिलती है किस बारे में मिलती है किस प्राप्त होती है तो चिंता मन की छुपी हुई बात है दुर्लभ वस्तु है ये नहीं ऐसी अद्भुत मन नहीं मिलती हो लेकिन चिंता मन की कोई भक्ति बहुत गुप्त वस्तु हो ऐसा नहीं है ये तो खुलासा सबके सामने बचते है और कौन नहीं प्राप्त कर सकता सबके लिए उपलब्ध है लेकिन फिर भी भगवान की कृपा न हो तो इससे कुछ भक्ति की महिमा लोग नहीं समझते वो उपेक्षा करते ध्यान नहीं देते भक्ति चाहे इतनी सुलभ हो और चाहे इतनी उसकी महिमा हो सारे दुखों को दूर करने वाली हो लेकिन किसी व्यक्ति को भक्ति में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देता उसकी महिमा नहीं समझ में आती तो फिर क्या है उनके लिए मिट्टी बराबर है वो अपने दुखों पड़े पड़े रहे पड़े पड़े लेकिन तो उन्हें भक्ति की कोई परवाह नहीं होगी तो कहते हैं ये बात क्या है तो जो भगवान की कृपा जब तक नहीं होती तब तक प्राप्त नहीं भगवान की कृपा करना चाहिए क्योंकि तो तो भगवान को सुन रहा है भगवान सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं अरे चलो भगवान कृपा तक करेंगे जब कुछ प्रारंभ होगा ऐसे मान लो जब तक कारण पुनर्दय नहीं होंगे तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी कृपा नहीं होगी तब तक उसे ये सब भक्ति प्राप्त नहीं होगी तो भक्ति के लिए जो वो हो भगवान की कृपा भी चाहिए प्रारंभ भी चाहिए ये सब वही चाहिए अन्य जगह प्रारंभ की बात नहीं कही तो देखो भक्ति प्राप्त होती है सत्संग से सत्संग प्राप्त होता है प्रारंभ से और प्रारंभ से बहुत लोगों के पास कुछ न कुछ पुण्य कार्य होते हैं लेकिन उस प्राप्त का फल जब भगवान दे है और सफल दे तो ये भगवान की कृपा भी चाहिए तो इस प्रकार की सभी की कृपा जब इनको प्राप्त होती है तब तो ये भक्ति प्राप्त होती नहीं तो हर किसी को नहीं प्राप्त होती कहते हैं राम कृपा दिन नहीं बुलाई सुगम उपाय पाए तेरे नर हतभाग्य दे घटवेरे ये हतभाग्य आ गया मैंने वही बात कही कि जो भगवान की कृपा अगर हो गई तो हतभाग्य क्या करेगा लेकिन नहीं अगर उसका दुर्भाग्य से व्यक्ति कहा तो भगवान भी कृपा नहीं कर सकता एक, कहानी है बच्चों की कहानी उसमें जो है वो एक भिखारी था वो भीख मांगता था और शंकर जी का नाम लेता था से और नमः शिवाय और नमः शिवाय भगवान शंकर के नाम पर एक पैसा दे दो भगवान शंकर जी के नाम पर इसके साधे थे मनता घूमता किस प्रकार कोई देता तो कोई नहीं देता भूखा पतला दुबला कपड़े सब उसके पते पुराने दिन दरिद्री जैसे भगवान कोई मांगता तो भगवान जब भीत मांगते हैं लोग तो भगवान का नाम लेते हैं मांगते हैं पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि भगवान शंकर जी देखो तुम्हारा इतना भक्त है बिंदा तुम्हारा नाम देता है लोगों से गीत मान मान करके काम चलाता है आप कृपा क्यों करते स्कूल इसको कुछ आप और संपत्ति के साथ दे तो नहीं दे सकते होता है तो जब इसका प्रारंभ उदय होगा तो मिल जाए तो डॉक्टर आपका नाम जपने से क्या फायदा <laughs> तो है प्रारंभ का नाम जपे लेकिन देखो हमारा नाम तो काम करेगा लेकिन प्रारब्ध उदय होगा तब काम करेगा जल्दी काम नहीं करता तब नहीं जवाब तो देना आप दे सकते हो आप तो ईश्वर हो समर्थ हो तब अच्छा करो देखो हम तुमको देते हैं इसको कैसे प्राप्त नहीं होता क्या होता तो भगवान शंकर जी ने एक थैली में सोने के सिक्के हजार पांच सौ भरे तो भारी लकड़ी बनाई और बना करके उसको लाल कपड़े में जैसे लोग बाग कुछ लोग ऐसा रखते हैं उस प्रकार के उसमें शरीर में बांध करके सर के ऊपर जगह से भीख मांगता जा रहा है उसके रास्ते रख दिया कहा कि जब ये घर से आएगा और कोई दूसरा पहने जब इधर से ये निकलेगा तो इसी को मिल जाएगी तो, तो मिल जाएगा इसी तरह जाएगा तो बिल्कुल उसका आगे रख दी जब वो बकरी के पास पहुंचने लगा तो उसने सोचा कि हम सीधे सीधे चलते हैं तो चलने लगते हैं देखते हैं अगर हम आंखें बंद करते हुए अब पीछे पैरों से तो चले उल्टे चले तो देखें रास्ता हम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे सीधे लोग कैसे चलते हैं जरा वैसे करके देखें दोस्तों जब बकरी के पास पहुंचा तो उसने आंखें बंद कर ली और उल्टे पैरों से पीछ कर लिया दूसरी तरफ दूसरी तरफ बकरी को तो पीछ कर ली गया दूसरी तरफ और घर की तरफ आंखें बंद किए हुए पीछा चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया जब इतनी भीड़ निकल गया पीछे चलता से उसने कहा था हाँ, चल चल देते हैं देखे हम कितनी भीड़ निकल आया जब आगे निकल आया तब तक बकरी पीछे रह गई उसको दिखाई नहीं पड़ेगी कहाँ से लेकिन बकरी सुकून कहाँ पड़ेगी अब फिर उसके बाद सिवा करने में शंकर जी ने कहा देखा पार्वती विदेश को सकते ही इतना सब उसको दी लेकिन उसको नहीं मिली यद्यप उसके सामने अपनी लकड़ी दान करते तो भी उसको नहीं मिली ऐसी दर्शन सुगम उपाय पाए जो तेरे श्रीमन जगह प्रगट बहुमानी बस होने की दसरी की तरफ मान लो रास्ते में अच्छे हुई है ये लोग भक्ति कौन मना करता है कि तुम भक्त न बनो कौन विरोध करता है लेकिन ना लेकिन स्वीकार नहीं करते तो पिता माँ नहीं पकड़ते चाहे उसकी महिमा भक्ति भी बताते रहे चाहे उसकी प्रशंसा करते रहो लोगों को उसको सुनने में उसको मानने आता करो अब भाई बैलों को तो जब बीमार होते हैं तो उनको तो दवा पिलाई जाती है तो एक बांस की बनाई जाती है तो और उसके भीतर दवा खाई जाती है और फिर एक आदमी उसका मुंह पकड़ता है मुंह पकड़ करके बांस का उतना बड़ा है उसके मुंह में डाल दी जाती है तो जब आपकी गली तक पहुंचे खड़खड़ा करके तो उसको डल के पीनी पड़ती है अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार से झूठ पिलाई जा सकती है बात मिली घर के खिलाफ उसको वो तो जब व्यक्ति के हृदय में स्वयं संसार का प्रारंभ उदय हो उसके हृदय में जागृति आवे उसको लगे भक्ति की मणि बड़ी सुंदर है बड़ी महिमावान है उसको प्राप्त करना चाहिए उसके लिए प्रयास करे तो करे उसे प्राप्त हो सुगम उपाय पाए हुए तेरे कोई कहे हमारे शरीर प्राप्त नहीं लगी कैसे हम प्राप्त करें तो कहते हैं इसमें कोई शारीरिक परेशान मानसिक परेशान की कोई बातें नहीं आप चाहे कमजोर हो जाए बुद्धे हो जाए बुद्धे हो चाहे कमजोर हो जाए बीमार हो जाए विरोध हो कैसे भी हो इसके लिए तो इसको भक्ति को प्राप्त करना बहुत आसान सुगम उपाय पाई दे तेरे न भाग्य देवी भटगेरे जो दुर्भाग्य व्यक्ति है वो भटगेरे देते हैं भटगेरे में तो भटकते करेंगे तो लेकिन भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे दूसरी जाति जैसे भटगेरे के मैंने ठोकर मारना चाहते हैं ये लोग भक्ति को ठोकर मारते रहते हैं दुर्भाग्य व्यक्ति और भक्ति को स्वीकार नहीं करते सर्वत वेद पुराना अब यहाँ से बताते हैं जैसे भक्ति कैसे प्राप्त होती है और कहाँ प्राप्त होती है यहाँ तक तो भक्ति की महिमा हो गई इतनी दस बारह चौपाइयों में भक्ति की महिमा हो गई अब बताते हैं जैसे भक्ति प्राप्त कैसे होती है उसके लिए तरीका है ऐसे नहीं बाई चांस किसी भगवान के पाओगे तो अपने आप किसी दिन आ जाएगा अच्छी जो हम राम कृपा नहीं कोई लाई तो अपने पड़े सोते रहते हैं अरे जब भक्ति आगे होगी तब आ जाएगी जब भगवान की कृपा होगी ऐसे नहीं भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी किया जाता है लेकिन प्रयास करने से मैंने बहुत कठिन काम नहीं बताया आसान काम है देखो कैसे भक्ति प्राप्त होती है जब पावन पर्वत वेद पुराणा वेद पुराण मन पर्वतों के समान है पर्वत ऐसे विशाल पर्वत हो जैसे तो देव प्राण साहित्य जितना भी है एक बाघ जैसा तमाम साहित्य है और राम कथा रुचरा करना उसमें भगवान की कथा जो है वो रुचिर आकर आकर्षण स्थान जैसे पहाड़ों में खाने होती है उसी प्रकार से इतने बड़े साहित्य के भीतर भगवान की कथा खान की तरह से मन की खान मैंने सारे साहित्य का भगवान की कथा वेद में पुराण जितने भी है उनका सार क्या है भगवान की कथा है राम की कथा उनकी वही उसका सार है वही पर्वत का मन है पर्वत तो बड़ा विशाल है पता पता है लेकिन उसके जहाँ स्थान होगी मन जहाँ मिलती होगी वो छोटा स्थान होगा और लेकिन मूल्यवान मणि होती है उसमें तो इसलिए समस्त पर्वत समस्त देश जो देश आपने इतने हैं उनमें भगवान की कथा जो वो है वो उसमें उसी कथा में जैसे भगवान की भक्ति है तो मरनी सज्जन और समुद्र कुदारी और जैसे पर्वत में खान हो तो खान को खोद करके मन निकालने के लिए पर्वत में मरनी व्यक्ति की जरूरत होती है मर्म का मर्म जानता हो कि मैंने पर्वत में किस जगह खान हो सकती है कि जिनको ऐसी पहचान हो कि पर्वत में कहाँ खान होगी कहाँ मनी होगी तो किस जगह तो खोदे के यहाँ मणि हो सकती है ऐसा समझने वाला व्यक्ति नहीं है मन भीतर की बात जानता है मन पता ये वो पर्वत के भीतर गुस्सा नहीं है वहाँ पर मन दिखाई नहीं देती लेकिन वो अपने अनुमान से अपनी बुद्धि से जानता है कि इस स्थान पर मन मिल सकती है तो ये मरनी हुआ तो मरनी सज्जन यहाँ भक्ति में क्या है जो सज्जन लोग वो मरनी के समान है तो मैंने व्यक्ति में सज्जनता होना चाहिए साधु का सज्जन के लक्षण बताए बालकाल में बताए प्रारंभ काल में फिर भगवान ने नारद जी को बताए और फिर जब वहाँ पर भरत जी को हनुमान जी ने पूछे तब उत्तर काल में फिर बताए इस प्रकार से देखते हैं कि भक्ति के लिए सज्जन लोगों के लक्षण कौन से हैं जो बताए गए हैं अगर वो सज्जन के सज्जनता के लक्षण किसी व्यक्ति में हो तो उसे भक्ति प्राप्त हो जाएगी अब जब दुर्जन होगा पहली फल है दुष्ट है तो जनता उसमें है नहीं तो उसमें भक्ति में भी प्रीत नहीं होगी भक्ति को प्राप्ति भी नहीं होगी इसलिए तो तुम सज्जन होना चाहिए अब सज्जन एक ऐसा शब्द है जिसने कि ज्ञान के मार्ग में बताया था कि उसके व्यक्ति में जब तक इत्यादि करने वाला हो संयमी हो इंद्र निग्रह करने वाला हो दम हो उदार हो क्षमा करने वाला हो जो सब जितने गुण बताए थे उसमें वो सब एक शब्द में सज्जन लाभ ये सज्जन जब कहीं तो भक्ति कहाँ मिल तो कहते मरनी सज्जन सुमत कुटारी और कुदाल को जैसे खान खोदी जाएगी तो उसे कुदाल चाहिए खोदने के लिए इसी प्रकार से यहाँ पर चाहिए सदबुद्धि चाहिए सुमत मानो सुंदर बुद्धि चाहिए सिद्ध बुद्धि और समत बुद्धि कैसे होगी जब सत्यगुण प्रधान हो रजगुणी तो तमुगुणी बुद्धि न हो सत्यगुणी बुद्धि हो ऐसी बुद्धि से जो शास्त्रों को खोदो माने ये जितने भी वेद पुराण जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सबने जहाँ कोई भगवान की कथा भगवान की कथा के मैंने भगवान की महिमा ज्ञान बताएगी पर ब्रह्म परमात्मा सब स्वरूप है चेतना स्वरूप है आनंद स्वरूप है निर्विकार है निर्लोक है सब जाति है समस्त जगत का आधार है सबके हृदय में बात करने वाला है सब जीव भाव में सबके कार्यक्रम का ये सब शास्त्रों जहाँ से लिखा हुआ है ये स्थल है वो उन वेद और शास्त्रों के खाने सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म तस्मात एक तस्मात आत्मना आकाशा समझूता आकाशा दवाई वायु और ये सब जो हम तथी उपनिषद के मंत्र है ये सब खान है देखो ये तो बहुत विशाल होता है साहित्य लेकिन उसमें जहाँ इस परमात्मा का निरूपण यहाँ किया गया है वो सब उसकी खान के समान तो ज्ञान विराग नियम और दारी फिर कहते हैं ज्ञान और वैराग्य जो है ये दो नेत्र अब कोई सुधान लेकर के खान खोदे अंधार भी हो चांदी का पर्वत पर खोद डालो तो भी उसको दिखाई देगी मन कहा है मन को देखने के लिए तो आंखें चाहिए इसी प्रकार को भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ज्ञान वैराग्य चाहिए ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति प्राप्त होकर के भी नहीं प्राप्त होगी संयोजन में भक्ति किसी को अब वैराग्य में देखो कैसे आ गया हाँ? वैराग्य को मैंने आ गया समस्त जगत के विषय से अनाशक्ति हो गई जन संपत्ति परिवार की आपसे अनाशक्ति हो गई शनिवार से बना सकते हो गई स्पीड से बना सकती हो गई स्वर्गात से बना सकती हो गई ये शब्द बना सकते करना हो तब दो तो उसके भक्त में ये वैराग्य भी होना चाहिए ज्ञान के मान में विवेक है तो उसके विवेक भी होना चाहिए पर्वत है तो चीज मालूम होना चाहिए कि कौन पत्थर पत्थर तो सभी पत्थर है उसमें पहाड़ में एक पत्थर मिल ही पत्थर है काला पत्थर है लाल पत्थर उस प्रकार का नील नील है और एक मणि का पत्थर है चमकने वाला पत्थर है तो वो मूल्यवान है तो विवेक होना चाहिए कौन मूल्यवान पत्थर है कौन नील पत्थर है इसका इसी प्रकार से यहाँ पर समझ में आने होनी चाहिए कि अपने अंदर जो है जो वृत्तियां हैं तो कौन सदवृत्तियां हैं कौन दुष्प्रवृत्तियां हैं ये सब उसको पहचानना आना चाहिए विवेक होना चाहिए अपने अपने अंदर अपने अंदर क्या चल है क्या चेतन है इस प्रकार से बोध प्राप्त करने के लिए उसके लिए विवेक होना चाहिए अब देखो यहाँ पर ज्ञान का नाम तो आ गया भक्ति के लिए भी ज्ञान चाहिए हाँ? चाहिए इसको तो नहीं कर सकते ज्ञान को तो कोई जोड़ते नहीं अपने आप ही किसी के लिए बताए भक्ति जागृत हो जाए किसी हृदय में ऐसा नहीं गोल्ड स्मृत के संबंध में कहते हैं इतिहास आता है उसका जहाँ स्थिति है इंग्लिश लिटरेचर उसमें कहते हैं गोल्ड स्मिथ एक दिन तक के बाद तक पहले दिन का संसार में बिल्कुल अज्ञात और उपेक्षित व्यक्ति था बिल्कुल मूर्ख समझा जाता दूसरे दिन सवेरे उठा तो अखबारों में उसका तमाम नाम छपा और उस दिन सारे देश भर में विख्यात हो गया ओवरनाइट चेंज हो गया उसका जीवन में वो कैसे हो गया उसने जो ट्रेनर नाम का जो किताब लिखा था उसको एक पब्लिशर में उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे छाप डाला और छाप करके जब उसने निकाला तो पेपर में दिया कि ऐसा ऐसा ट्रेनर करके जो साहित्य ये है ये बहुत सुंदर है तो उसकी निंदा कर लोगों ने उसकी डिमांड की पढ़ी जहाँ पढ़ी तो उसके बाद फिर बोल के मान कर लिया उसमें आ गया कैसे ये धरती कोई ऐसा नहीं जो कोई बताए अपने आप किसी व्यक्ति को हुआ ना है जो उसने सभी भक्त हो ऐसे थोड़े ये तो धरती का धीरे धीरे करके विकास होगा उसमें ऐसे करके ये बताया कि व्यक्ति में सज्जनता आ गए वैराग्य आ गए ज्ञान आ गए शास्त्रों का अध्ययन करे भगवान की कथा को सुने सुना गए ये सब आते आते आते आते सब उसके अंदर भक्ति जागृत हुई उसके ऊपर वरना नहीं आ गए तो सज्जन सुमत कुटारी ज्ञान विराट मेन वरदारी और भाव सहित खोजे जो प्राणी अगर कोई प्राणी भाव के साथ उसको खोजे अब मैंने ये भाव रखे जैसे पर्वत में है तो ये विचार करके चले कि पर्वत में यहाँ पर मन जरूर होना चाहिए मिलेगी जरूर खोजते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगी आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी पढ़ाई चालू रखते ये भाव हुआ जाकर के वहाँ है इसी प्रकार से यदि कोई शास्त्रों का अध्ययन करता रहे भगवान की कथा सुनता रहे भगवान की कथा समझने की कोशिश करता रहे लगा रहे लगा रहे उसमें है तो कभी न कभी भक्ति हृदय में आई जाएगी कभी न कभी अविद्या निकल जाएगी कभी न कभी हमारे मानसिक रोग दूर हो ही जाएंगे ऐसे आशा रखते हुए अंतर उसमें लगे ही रहे लगे ही रहे भाव हो गया तो खोजे जो प्राणी इस प्रकार की जो भक्ति को खोजेगा पाव भगत मन सर्व उसको भक्ति रूपी मन ये मिल जाएगी कभी न कभी तो मिल जाएगी कृष्ण के बाद और फिर उसको सशक्त सुख देने वाली ये मणि है तो उससे प्राप्त हो जाएगी जहाँ भक्ति मन आ गई तो व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है तो हमारे सुख का हेतु हमारे अंदर ही बुद्धिमान है बाहर जगत में सुख का कोई हेतु नहीं है समझता है कि बाप को ऐसा ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे जब तक चुप में ये रखा रहे तब तक समझ लो कहीं भक्ति नहीं है दूर है व्यक्ति इसलिए तो भाव भगवती मन सब सुख खाने ये भक्ति की मन सब सुख खानी है कि मैंने ऐसे व्यक्ति को दुख हो ही नहीं सकता अरे आज न्याय में ऐसे ऐसे विचित्र व्यक्ति की बात रखी देते हैं दुख देते हैं उनको दुख नहीं होगा तो ना ये कह रहा कोई जैसे पतंगे आकर के आ जाते हैं सबसे तो चले जाते हैं ऐसे पतंगों की तरह से लोग टकराते रहेंगे आप सबसे तो हर मान जाए भाग जाएंगे भक्त का कुछ बिगड़ने वाला ऐसे कैसे तो पाओ भगत मन सब सुख कहानी मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम को अधिक राम करता था अब कहते देखो कालभूषण जी देखो एक, नया एक और विचार लाए कहते सही बात तो ये कि हमारे मन में तो ऐसा है कि भगवान को कम उनके भक्त ज्यादा श्रेष्ठ है मोरे मन प्रभु अस विश्वासा प्रभु संबोधन इनके लिए गरुड़ के लिए गरुड़ पक्षी के राजा है इसलिए इनको प्रभु भी बोल देते हैं कि तो हे प्रभु हमारे मन में तो ऐसा विश्वास जमा हुआ है कि राम के अधिक राम कर दाता राम कम राम के भक्त जो है मेरे लिए वो ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई देते हैं अब भक्तों के क्या श्रेष्ठता है अब देखो सिद्ध करते हैं उदाहरण देकर करके बताते हैं जो बलिए भक्त ऐसे श्रेष्ठ है कि राम सिंधु बने सज्जन धीरा तो भगवान राम के मानो समुद्र के समान लेकिन सज्जन ये जो भगवान के भक्त है राम का दाता वो सज्जन धन है भीड़ धन के समान है बादलों के समान अब बताओ समुद्र श्रेष्ठ है कि बादल श्रेष्ठ है हाँ? अब समुद्र तो भरा है समुद्र तमाम पानी भरा हुआ लेकिन जहाँ भरा हुआ तो खाली पानी भरा हुआ और जहाँ भरा हुआ वहाँ भरा हुआ यहाँ जहाँ रहते हैं भूमि के ऊपर यहाँ पर वो समुद्र कौन काम आता है यहाँ से जो काम आता है वो बादल ही काम आते हैं वो समुद्र का पानी बादल लेकर के चलते हैं और वहाँ पर नमक नमक वही छोड़ देते हैं और पानी पानी समुद्र से ले लेते हैं और वो बिना खारी बिना नमक वाला पानी बादल दे करके चलते हैं पानी आकर के जब बरसाते हैं तो पानी आगे बरबरा कहाँ जा रहा समुद्र की तो पानी है लेकिन बादल वहाँ से लाए हैं और यहाँ पर आकर के यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया तो आप कहते हैं बताओ बादल की ज्यादा महिमा हमारे लिए ज्यादा उपयोगी बादल है तो ज्यादा समुद्र समुद्र है अगर बादल ना अगर पानी न बढ़ते तो कहते कि क्या हुआ समुद्र तो भरा हुआ या समुद्र से पाना सीख लो पी लो तो मिला जाता वो वहां समुद्र का पानी हमें कहा मिलेगा कहा उपलब्ध होगा इसी प्रकार से परमात्मा को दुर्लभ समुद्र की तरह से लेकिन ये संत लोग जो है सज्जन लोग जो है बादलों के समान है तो उस परमात्मा तक हमें तक तो पहुंचा देते हैं परमात्मा का आनंद परमात्मा का जल परमात्मा का सुख रूपी वो जो है वो पहुंचा देते हैं देश देश में सज्जन आदेश और सलीम करते हैं उसको बताते हैं कि उदाहरण और देते हैं कि चंदन कर हर सन पसंदीदा भगवान श्री राम जी जो है तो चंदन के दृश्य के समान है जैसे संत लोग कैसे हैं ये सज्जन लोग कैसे हैं ये वायु के समान अब चंदन यहाँ खड़ा होता है कितना सुगंधित हो चंदन अपने सुगंधित बना रहेगा लेकिन वायु होगी चलेगी तभी चंदन की सुगंध को वायु ही लेकर के चलेगी अगर चंदन के पास भी आप खड़े हो जाओ तो अगर वायु न होगी तो चंदन छोड़ना अपने आप में कैसे पहुंचेंगे तो सुगंध तो वायु के माध्यम से चलती है अगर चंदन से अगर दूर भी खड़े मिल जो भी चंदन जहाँ चंदन का बन है वहां से दस पांच किलोमीटर आप दूर भी हो तो वायु वहां की सुगंध लेकर के आपके नाक तक पहुंचा देगी आपको वहीं से लगने लगेगी दस पांच किलोमीटर दूर से भी चंदन का बन मालूम पड़ता है आगे की बात है इसी प्रकार से संत लोग भगवान की जो महिमा है गुण है आनंद है वो संत लोग वहां से भगवान जहाँ कहीं पहुंचते हैं लेकिन संत लोग उनकी महिमा को लाते हैं और उन लोगों को सुलभ कर देते हैं जिन लोगों के लिए दुर्लभ था वो वहां तक पहुंचा देते हैं सब कर फल हरि भगत सुहाई सेव ने संत न पाई कहने का मतलब ये की भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से मेरी प्राप्त होती है लेकिन भगवान भी अपनी कृपा संतों के द्वारा देखते हैं हम्म। इसलिए संत जो है भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है सबकर फल हरि भगत जो सब कर्मों का फल जो भक्ति है सो बिना संत न पाई बिना संतों के किसी में आप तक पाई बिना संतों के नहीं पाई कि माने प्रारब्ध बना तो बना रहे भगवान की कृपा है तो बनी रहे लेकिन जब तक संत प्राप्त नहीं होंगे तब तक भक्ति प्राप्त होगी तो इसलिए संतों की महिमा ज्यादा बता दे इसलिए था राम के अधिक राम करता था ये उसका कारण होता है सूर्य ने संत में कहा पाई अत विचार जो कर सकूंगा इस बात को समझ करके सत्संग क्या महिमा है जो लोग समझते हैं जो कर सत्संगा जो सत्संग करेगा हाँ? तो कहते हैं कि राम भगत के सुलभ व्यंगा ये जंग उसके लिए जो है राम भक्त सुलभ हो जाएगी अब सब भगवान की भक्ति प्राप्त करने का क्या उपाय हुआ पहले सत्संग हुआ यही से सत्संग पहले हुआ जब सत्संग होगा तो सत्संग क्या होगा सत्संग में फिर जब हो भगवान की कथा होगी क्यों कथा क्या है वो मणि जैसे पर्वत की खान है इस प्रकार से भगवान की कथा होगी उस सत्संग में उसे कथा सुनने को मिलेगी कथा सुनने के लिए उस समय कथा सुनते समय उसमें क्या क्या होना चाहिए उस व्यक्ति में उसके लिए चाहिए ज्ञान चाहिए वैराग्य चाहिए उसको और उसमें जो वो वो सदबुद्धि उसको चाहिए उसमें भी सज्जनता चाहिए ये सब उसमें जो है योग्यताएं चाहिए तो इन योग्यताओं को लेकर के कथा सुनेगा तो उस कथा में ही भगवान की भक्ति से मिल जाएगी कथा सुने लेकिन न ज्ञान है न वैराग्य है न सदबुद्धि है न सज्जनता है जल बुद्धि है ढीला मुक्ति है जो अपने आप को समझे बैठा उसको हिलने सुनने तैयार नहीं जो माने बैठे बस वही करिए कथा में जितनी बातें सब निरसक बातें वो तो सब पागल जिन लोगों ने सब कथा की बातें कहते हैं किसी किसी के हम इतना समझते सब कुछ हमें ऐसी धारणा लेकर के कथा सुनेगा तो उस कथा में फिर चिंता भी रहती भी मन भी प्राप्त हो अपने लोगों के कारण से वो <clears throat> उसको जो है वो वंचित हो जाएगा प्राप्त नहीं इसलिए यहाँ जो है राम भक्ति के क्रम इस प्रकार बता दिया भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति सब सुविधाई है जो कि सब कहते हैं कि जो सबका फल हरे भगत स्वाई सब जितने भी जीवन के जितने भी साधन है अंतिम साधन यही है भगवान की भक्ति भक्ति प्राप्त हो गई तो व्यक्ति प्राप्त हो गया कृतकृत हो गया सब कुछ इसे प्राप्त हो गया लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए बात इतनी बड़ी चीज है नील बहुत बड़ी वस्तु की है लेकिन उसकी प्राप्ति जो है बिना सत्संग के लिए अब इसी को मिला लो उसी जगह जगह जहाँ भगवान ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया वहाँ भक्ति की भी चर्चा की है जहाँ शौरी को भगवान ने उपदेश दिया वहाँ भक्ति की चर्चा की है जहाँ अयोध्या वासियों को भगवान ने चर्चा की है वहाँ भक्ति की चर्चा की है इन सब प्रसंगों को इकट्ठा करके भक्ति के संबंध में जोड़ने तो सब सब जगह यही है प्रथम भगत संतन कर सज्जा संगा दूसर भगत कथा प्रसंगा पहले भगवान की भक्ति यही है कि सत्संग करो और सत्संग में भी क्या करो तो पहली भक्ति तो होगी सत्संग लेकिन दूसरी भक्ति क्या है, है? हाँ? रति कथा संगा कथा के प्रसंग में रति हो प्रेम हो कथा कथा में प्रेम नहीं है तो भी सत्संग होकर के रहेगा बस गाड़ी आगे था कथा सुनो लेकिन प्रेम के साथ सुनो प्रेम सुनाने उसकी महिमा को समझने की कोशिश करो बड़ी मूल्यवान बात हम सुन रहे हैं बड़े काम की बात है ये जो सत्संग में जो भगवान की कथा सुनने को मिल रही है इससे ज्यादा दुर्लभ कोई वस्तु नहीं संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ यही है ऐसे मात्र बुद्धि रख करके इस कथा को सुनो हमारी बुद्धि में रखती लापरवाही बरती है अरे ऐसी कथा दौड़ती धोती की कथाओं का रखा अरे कथा वाचक के सौना तेज भरने वाले उनके चक्कर में काय को पड़ो ये तो उनका अपना व्यवसाय ऐसी बुद्धि करके बैठ गए अस विकार कर सत्संगा राम भगत के सुलभ बिहंगा अब कहते हैं कि देखो इस गुहे में कैसे जो है भक्ति कैसे उत्पन्न होती है वो एक बताते हैं फिर दूसरा जो है एक रूपक यहाँ प्रस्तुत करते हैं समुद्र मंथन का ये रूपक है जैसे समुद्र है समुद्र में मंदराचल पर्वत है बासुकी सर्कलत देखा गया देवताओं ने उसको घसीटा खींचा तो उसके उसको समुद्र का मंथन हुआ तो समुद्र के मंथन से चौदह रत्न निकले तो उसमें अमृत निकला सुधा अमृत निकला हम्म, इसी प्रकार की ये भक्ति जो है ये भी कैसे निकलती है कहते ब्रह्म पयोनिधि यहाँ से चलो पयोनिधि के मैंने समुद्र जो है वो ब्रह्म है अब वहीं से आती मानो भक्ति कहाँ से आती है उसी ब्रह्म से ही आती है ब्रह्म रूपी समुद्र से ही निकलती है तो ब्रह्म पयो नदी और मंदर ज्ञान ज्ञान मंदराचल पर्वत ज्ञान के यहाँ विचार हाँ? बार बार विचार करते हैं विचार रूपी मंथन चलता है तो फिर उसमें से जब वो हो भक्ति रूपी कथा रूपी अंत निकलता है और संत सुरहान और संत जो है लोग ये सुर है समुद्र का मंथन करने वाले सब लोग देवता लोग हैं और यहाँ पर जो भक्ति को निकालने वाले ब्रह्म रूपी समुद्र से निकालने वाले मंदराचल का मंथन करने वाले ये लोग संत लोग संत लोग उस भक्ति को उसमें से निकालते हैं और कथा सुधा मत काल और उसको कथा रूपी अमृत उसमें से उन्होंने निकाला खोज करके और भगत मधुरता जाए और भक्त जो है वो उस कथा की मधुरता है जाए मैंने जिसकी भक्त क्या है भगवान की कथा की जो मधुरता है वही भक्त